जय हो मंगल हो कल्याण सबका शुभ इस शुभकामना से आप हमें यहां मिलें और आज हमारा वक्तव्य का मूल मुद्दा है सार्वभौम व्यवस्था पहले तो सार्वभौम व्यवस्था कैसे हो तो अभी तीन दिन में अपने को आपके तो मुख्य प्रस्ताव रखा है कि विकल्प के रूप में समझदारी को समझने की आवश्यकता समझदारी से संपन्न होने की पश्चात प्रमाणित करने की आवश्यकता ये दोनों चीज मनुष्य के सामने रखा हुआ क्यों रखा हुआ है क्योंकि अभी तक हम जो सन 2000 तक जो कुछ भी हमने जो ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी तीनों मिलकर के जो कुछ भी किया जो कुछ भी निर्णय लिया उसका जो फल परिणाम धरती बीमार होने के रूप में देखने को मिला और अपना पराएगा दूरी बढ़ता हुआ देखने को मिला बॉर्डर सिक्योरिटी में विभीषिकाएं बढ़ता हुआ देखने को मिला विध्वंसकता के रूप में इन सबको देखने के बाद लगा कि अपन सही कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं ये भी एक सोचने की मुद्दा बने उसके आधार पर प्रस्ताव रखा है विकल्पात्मक रूप में समझदारी के पक्ष समझदारी अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान जीवन ज्ञान के रूप में संपन्न होने की व्यवस्था दिया है इसका अध्ययन करने वाले कम से कम दो हजार दो हजार लोग होंगे अभी इतना लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी जो इच्छा होगा वो भी अध्ययन कर सकते हैं ये ये बात बताया एक सूचना के रूप में उसके बाद दूसरा बात ये बताया ऐसा यदि अध्ययन होता है मानव चेतना पूर्वक हम जीना बनता है अभी तक क्या किए जीव चेतना में जिए ये समय हुआ जीवन से अच्छा जीने के लिए हम प्रयत्न किया उसमें सफल रहे परिणाम में हमारे धरती बीमार लोग उसके पुनर्विचार करने की आवश्यकता है उसके आधार पर जो अस्तित्व सहस्तित्व रूपये अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान जीवन ज्ञान इन तीनों मिलने से हम समझदार होते इन इन तीनों बातों को छोड़ करके कभी भी समझदार नहीं होंगे अभी नहीं करोड़ वर्ष के बाद भी नहीं होंगे नाश होने के बाद भी नहीं होंगे आबाद होने के बाद भी नहीं होंगे ये बात हम देख इसके आधार पर हमको प्रस्ताव रखने की इच्छा हुई प्रस्ताव के रूप में रखा उसको परीक्षण करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास रखा हुआ तो शोध करने के अधिकार हर व्यक्ति के पास रखा हुआ ये हमने अपने अनुभव से बताया ऐसे समझदारी से संपन्न होने के बाद हमारे पास समाधान सर्वतोमुखी समाधान हमको हासिल होता है इसको मैंने अनुभव किया है यह है प्रमाणित हूं मैं सर्वतोमुखी समाधान में हम स्वयं प्रमाणित हूं हम जी के देखा है तो इससे सुख मिलता है ये बात ये बात है इसलिए सभी आदमी आज का पैदा, पैदा हुआ आदमी कल मरने वाला आदमी सभी सुखी होना चाहते हैं प्रकार आपका से अभी हमारे पास एक ही प्रकार से सुखी होने की विधि नहीं है किसी भी प्रकार हम प्रत्याम सुखी होने के लिए आशा किया है किंतु सुखी होने की विधि बनी मानव चेतना के पास मानव चेतना के उपरांत हर मनुष्य के पास समाधान उपलब्ध होगी समाधान के अर्थ में हम सुखी होते हैं समस्या के अर्थ में सुखी होते हैं ये, ये बात को हमने देखा समझा है उसको आपको सूचना के रूप में बता दें यदि ऐसा आप करना चाहते हैं तो अध्ययन के लिए वस्तु प्रस्तुत किया है तो दर्शन विचार शास्त्र उसको आप लोग अध्ययन कर सकते हैं उसका नाम दिया मध्य दर्शन सहस्त्र तो जीवन विद्या जो ध्वनि है वो इसके लिए सूचना देता है सूचना देने के बाद उत्साहित होना होता है इसको भी अनुभव इसके उत्साहित होने के उपरांत यदि उद्देश्य बनता है कि हमको समझना है तब उसके लिए व्यवस्था है यदि इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं यदि इच्छा हो तो स्वेच्छा से इसमें हमारा कहने की मात्र मतलब से ना करिए अपने स्वेच्छा से कोई इच्छा हो तो अध्ययन कर सकते हैं बात ये व्यवस्था नहीं है अभी सब लोग हमारे राजौटी नाम के एक छोटा सा गांव है रायपुर के पास वहां अध्ययन कर रहे हैं जिस राज्य शिक्षा संस्थान के लोग ऐसा कर उनके साथ और भी लोग हैं सब मिल के तो अध्ययन कर अध्ययन करना ये आपको सूचना के रूप में बताया समझदारी के बिना हम समाधान संपन्न होंगे समाधान संपन्न होने के बाद ना तो बायो सिक्योरिटी रहेगी ना अपना पढ़ाई का दूरी रहेगी भ्रम नहीं रहेगी मनुष्य के पास भ्रम क्या है उत्साह तो उसके लिए मैंने अनुभव किया हूं कि देखा हूं समझा हूं कि जो मनुष्य है ना शरीर मनुष्य का शरीर जीवंत रहते समय में जीवन ही जीवन बना के रखता ये बात आपको सूचना के रूप में पहले भी कहा हूं अभी भी कह रहा हूं जीवंत रखने के फलस्वरूप शरीर में संवेदनाएं व्यक्त होती संवेदनाएं जब व्यक्त होता है संवेदना को देख करके जीवन ही पुनः बुद्धू बनता है कि यही शरीर ही जीवन है ये भ्रम है ये भ्रम रहने तक जीवन स्वयं मरने रह रहे जीवित रहने की बात सोचता है ठीक है ना शास्त्र तो विधि से शरीर रचना जीवन अपने प्रकृति को प्रमाणित करने योग्य बना करके रखिए इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है किसी मानव का इसमें धरती पर जितने भी बुजुर्ग हैं उन किसी का हाथ नहीं है आप जितने लोग दिख रहे हैं उनका किसी का हाथ नहीं है किस, किस बात के लिए मानव शरीर रचना के समान अपने आप से प्रकृति अपने आप में स्वयं प्रकृति से इस मानव शरीर को प्रकृति प्रस्तुत करती है ऐसे मानव शरीरधारी जितने भी जीवन है अपने जागृति को प्रभावित करने योग्य शरीर बन चुकी है ये आपको सूचना के रूप में बताना चाहते हैं वो जागृति क्या है भाई समस्या क्रम है और समाधान जागृति जहाँ सर्वतोमुखी समाधान हम प्रस्तुत करते हैं हम समाधान जागृत हैं यदि समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं हम भ्रमित हैं ये हर व्यक्ति स्व अपने में गुणाकार भागाकार सब कुछ में आकार कर सकता ये हम सूचना के रूप में बता रहे हैं तो उसके बाद आगे समझ, समझने के लिए क्या बताया तो दर्शन विचार विकल्पात्मक दर्शन ठीक है ना अध्यक्ष दर्शन सहस्त्र प्रभाव को प्रस्तुत किया है उसको विधिवत अध्ययन करने से मानव सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होता है सभी विधा में समाधान प्रस्तुत करना योग्य होता है तो अध्ययन तो पूरा करना अध्ययन का मतलब मैं बता क्या बताया सर का अर्थ होता है अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है वस्तु का वस्तु का साक्षात्कार होना साक्षात्कार होने के बाद अनुभव होना अनुभव होने के बाद प्रमाण होना इस तरह से मानव जो है ना अध्ययन का प्रयोजन स्पष्ट कर सकता है प्रमाणित कर सकता है जी सकता है ये हम देखा है समझा है जी उसके बाद ऐसे ऐसे प्रस्ताव के साथ आशा है कि सर्वमानव शुभ चाहते हैं सुख चाहते हैं जीना चाहते हैं अरे अच्छा, शरीर यात्रा में एक शरीर यात्रा में कैसे सभी समझदार हो समाधानित हो प्रमाणित हो उस चौखट में पूरे अध्ययन का व्यवस्था एक ही शरीर यात्रा अनेक शरीर यात्रा की बात नहीं एक शरीर यात्रा में संपूर्ण बात को अध्ययन कर सकते हैं संपूर्ण पाठ क्या है पूछा तो स्वयं का अध्ययन अस्तित्व सहस्त्र रूपये अस्तित्व का दर्श सहस्त्र रूपये अस्तित्व का अध्ययन हो जाए स्वयं का अध्ययन हो जाए तब सर्व संपूर्ण अध्ययन हुआ इसमें से एक बात को छोड़ना है संपूर्ण अध्ययन नहीं हुआ अभी अभी जो अध्ययन है केवल सुविधा संग्रह के लिए अपराध के लिए और बुद्धू बनाने के लिए थे अभी हमारे पास जो कुछ भी विद्वता है वो इसी तीन जगह में कामयाब चौथे जगह में कामयाब नहीं है ठीक है सत्य समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ है न्याय प्रस्तुत करने में असमर्थ है सत्य प्रस्तुत करने में समर्थ तो अभी अभी तक मैंने सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटेड जजों से बात किया तो सत्य न्याय का पता आता पता नहीं वो कहते ठीक है सत्य के बारे में आप हम जानते हैं सत्य हम सत्य नाम जानते हैं तो सत्य क्या होगा कि उसका प्रभाव क्या होगा उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम सर्वथा अज्ञान है सर्वथा अनभिज्ञ है ऐसा कहा जा सकता है तो उसके बाद यह आता है शिक्षा में नया आए नहीं है यह प्रमाणित सत्य के सत्य बोध कराने की व्यवस्था शिक्षा में आया इसी आधार पर अभी न्याय धर्म सत्य को शिक्षा में बोध कराने की व्यवस्था रखा उसके ऐसा जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा संस्थान के विद्वान यहां बैठे भी हैं उनसे भी गवाही कराया जा सकता ठीक है ये तीनों बात में तीनों बात को बोध कराने की व्यवस्था है कि नहीं बगैर सर एक परसेंट इतने इतने इस प्रकार की काम चल रहा है इसके इसमें हर व्यक्ति भागीदारी कर सकते हैं भागीदार हो सकते हैं इच्छा से इच्छा हमारा कारण ऐसे कुछ भी नहीं हो या अभी तक बहुत सारा उपदेश हम देख करके देखा हम स्वयं वेदमूर्ति परिवार के हो बता चुका हूं तो हम उपदेश उपदेश देने में हम माहिर हैं हम स्वयं विद्वान हैं उपदेश देने उपदेश देने के मेटीरियल बहुत थे हमारे पास जो आप समझा नहीं संदेश देंगे ना मैं समझा रहा था किंतु हम दोनों खुश रहते हैं ऐसा उपदेश की थी ना हम समझे रहते हैं ना आप समझोगे तो ऐसा उपदेश से दोनों खुश रहते हैं हम कैसे खुश रहते हैं आप कुछ हमको दे करके खुश रहते हो मैं देख करके खुश रहता हूं ऐसा बात इस व्यवस्था को हम छोड़ दिए ये निर्थक है इसमें कोई प्रयोजन नहीं है पहली बार के लिए हमने 25 वर्ष लगाया उसके बाद 25 वर्ष लगाया इसको व्यवस्थित देने की पसंद अब भी दस वर्ष से हम इस बात को लोगों के सम्मुख रखने योग्य हुए लोगों के सम्मुख रखने के क्रम में भी सर मैं बता दो तो दिया अभी पांच सौ से अधिक लोग अध्ययन कर रहे पूरा पूरा होना ठीक ये बात ऐसा है और आगे वर्ष और बढ़ेगा बढ़ना ही है ऐसा बात कर रहा तो इसको देख करके आप सबके साथ हम ये कहना चाहता हूं जो चाहते हैं वो भागीदारी कर सकते हैं अध्ययन ठीक है अध्ययन कराने में ये ये ये, ये हम प्रतिज्ञा की है ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार करेंगे हम, हम आपको पढ़ा दिया आपसे दक्षिणा उगाना है ऐसा नहीं अध्ययन के लिए कोई शुल्क का व्यवस्था नहीं हम हमसे कोई वस्तु लेते हैं ले गए तो हमको कोई वस्तु नहीं ऐसा बात कहा ये उचित है अनुचित है उसको धीरे धीरे सोच करके बताना ठीक है एक बात है इस प्रकार से जो हम समझदार होते हैं समझदार व्यक्ति व्यवस्था में कहा परिवार परिवार में पहले व्यवस्था में जीता है वह समाधान समझ पूर्वक जीता समाधान समझ कहते हैं नियम में समान समानता रहता है समझदारी के आधार पर इस आधार पर परिवार में सुखपूर्वक संतोषपूर्वक जीना बनता है सुख संतोषपूर्वक जीने की पश्चात सरनामा अभय सहस्तित्व दो बात भाग्य रहते तो ऐसे जो परिवार संपूर्ण मानव परिवार होने के बाद अखंड समाज होता है उसके पहले होने वाला नहीं कम से कम सात प्रतिशत से अधिक परिवार यदि तो समाधान समझ पूर्वक देना ही योग्य होता है तब अखंड समाज का कथन हो पाता है ऐसे स्थिति में तो अखंड समाज में ही से हम अभय संपन्न हो सकते भय मुक्त होते अभी अखंड समाज न होने के आधार पर कौन क्या कर दिया गया आशंका बना ही रहती इसको आप सब अनुभव कर सकते हैं विगत का इतिहास स्वयं गवाही है सभी बात आपके सम्मुख यदि यदि हम अभय संपन्न होते हैं तब जो देखा सार्वभौम व्यवस्था के पक्ष में जाते सार्वभौम व्यवस्था का क्या मतलब तो चारों अवस्थाएं के साथ संतुलित व्यवस्था पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था में समान संतुलनात्मक व्यवस्था वो संतुलनात्मक व्यवस्था क्या होगी बताया नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक न्याय धर्म सत्य सत्य सहज व्यक्ति से जीने की विधि है जिन्हें पर क्या होता है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होता है इन प्रमाण के आधार पर मानव जड़ना सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीने में आता है ये सुख शांति संतोष आनंद जीवन सहज अपेक्षा जीवन सहज तो अपेक्षा के अपेक्षा जो है ज्ञान होता है ज्ञान को टुकड़ा बना टुकड़ा बना करके बेचा नहीं जा सकता ज्ञान टुकड़ा होता है अभी अभी जो भी जितने भी माने जाते हैं वो सब तो सबके साथ ज्ञान अज्ञान के साथ हम ज्ञान का उपयोग कर बेच रहे हैं ऐसा कह रहे हैं ज्ञान को कैसे बेचोगे भाई हम जानते ही नहीं पूछता तो उसका उत्तर मिलता नहीं कोई उत्तर देने वाला था तो फूल माला पहना करके हम सुनूंगा ठीक है उनको फूल माला पहना करके हम सुनूंगा ठीक ये अभी तक हम पाया है कोई आपने हमको जो ज्ञान को बेचना का विधि को हमको बताता बताया नहीं योग्य है ऐसा व्यक्ति को हम हटाया नहीं कई लोग होते हैं पाप कर तो अभी इस आधार पर यह बताना चाहते हैं हम आप समझदार होने के बाद ज्ञान व्यापार करेंगे नहीं हम धर्म व्यापार करेंगे अभी ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार में कितने लोग लगे हैं आप ही सोच सकते आप लोगों का आंकड़ा रखा हुआ सब रखा हुआ तो सारे तो दल डरता यहीं से सारा सारा अपराध प्रवृत्ति यहीं से ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार तो हम समझता हूं धर्म को हमारा बच्चों को योग्य बनाया जाए आगे बड़ी पीढ़ी को योग्य बनाया जाए हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को योग्य बनाया जाए हमारा संपर्क के व्यापी लोगों को योग्य बनाया जाए यही बनता है ठीक है ना हम वही कर रहे हैं हमारा संपर्क व्यक्तियों के बीच में हम काम कर रहे हैं इसी बात में धर्म व्यापार धर्म धर्म ज्ञान व्यापार से मुक्त ज्ञान और धर्म को हम बोध कराने की व्यवस्था करते हैं अभी हम राजधानी से भी बातचीत किया तो ये एक आचार तो एक तो इस बात को छेड़ने से आचार्य लोग बहुत नाराज होते हैं एक आचार्य नाराज है आचार्य उनको कह रहा हूं जो शंकराचार्य पद में बैठे तो एक शंकराचार्य जी हमको ये बताया ये एक धर्म के बारे में अध्ययन करने के बाद हम तो धर्म का लक्षण को पता कर शिष्टानुमोदन कहते हैं तुम तो अध्ययन अध्ययन कराने योग्य व्यवस्था किया तुमने महत्व कार्य किया ऐसा एक व्यक्ति तो अभी तक दूसरा व्यक्ति अभी तक नहीं है एक शंकराचार्य ने बताया वो भी बहुत श्रृंगेरी में एजुकेशन करा के आई एन अमर उस समय में उन्होंने उनके साथ जितना सत्संग हुआ उसके परिणाम में ये बताया ये सब तो लेकर के हमको जो उनको जो संतोष मिलना है वो मिलता रहा हम आगे आगे बढ़ते गए आप लोगों के सानिध्य में आ गए इतना ही कहा ये तो एक कहानी और कहा करके क्या बता रहे हैं अभी अभी हम यदि समझदारी पूर्वक की बात है अखंड समाज व्यवस्था में पहुंच सकते हैं अखंड समाज होने के उपरांत हम असाधारण रूप में हम अभय संपन्न होते समाधान समृद्धि अभय संपन्न समाधान समृद्धि पूर्वक परिवेश में जी सकते हैं समाधान पूर्वक हर व्यक्ति संपन्न हर समाधान संपन्न होने की व्यवस्था अध्ययन से अध्ययन का अध्ययन का शुरुआत मैंने किया इतना ही कितने छोटे इन छोटे सी बात को लेकर के हम खुश रहता हूं प्रसन्न रहता हूं हमारा में कोई तकलीफ अभी तक नहीं तकलीफ का, का हमारा एक ऑपरेशन हुआ इसका क्या करते हैं जंगा का जंगा में वो जॉइंट होता है उसमें जो है ना एक गोली होती है वो गोली फुट गया फुट जाने से उसको ऑपरेशन करेंगे बोले करो बोला कर दिया तो उससे उसमें अभी न अस्सी प्रतिशत ठीक हुआ है न पच्चीस पच्चीस प्रतिशत बाकी ठीक होगा इसी आधार पर किसी का भुजा पकड़ करके हम आपके सम्मुख आता ठीक हो गए तो हमको कष्ट भी तक व्यापार ये ऑपरेशन हुआ सब होगा क्या तो हम कष्टग्रस्त हो गए ऐसा भी तक नहीं ठीक ये इसमें क्या इससे क्या पता लगता है तो यदि हम सटीक समाधान पूर्वक जीते हैं हमको संसार में जो कष्ट जो कहता है उसमें कम से कम हमको प्रभावित कर पाता है ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता ये इसको तो आप हमसे कह सकते हैं इसको भी हमने अनुभव किया ठीक है व्यवस्था हो जाने पर क्या व्यवस्था होने पर पांच में हम जीवन बहुत अच्छे हैं क्या क्या यार सर्वप्रथम शिक्षा संस्कार परंपरा शिक्षा संस्कार को हम परंपरा के रूप में ले सकते अच्छी तरह से सकते जिससे क्या होगा समाधान उपलब्ध होगा न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होगा इस आधार पर क्या हो गए तो न्याय संस्था हो ही साधारण ये सबके लिए न्याय संस्था हो ही जाए घर में स्वरूप समाजदार परिवार में न्याय तो होता ही है समझदार संबंधों में न्याय होता ही है समझदार परिवार का सर्वमानव समाधान परिवार में जीता है पूरा संसार में न्याय है ये फल इसके अध्ययन करा न्याय सर्वप्रथम जबकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्टों में न्याय का पता है जितने भी धरती पर कोदो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें न्याय का पता है अभी तक संविधान में क्या महत्ता है महत्ता यह है गलती को गलती से रोको अपराध को अपराध से रोको युद्ध को युद्ध से रोको तीन प्रधान कायदा लिखा इन तीन प्रधान कायदा के लिखते न्याय कहां से मिलने वाला और बाकी सब जन सुविधा के लिए बात करते हैं जन सुविधा अभी तक पूरा हुआ नहीं सबको संग्रह सुविधा चाहिए हमको भी चाहिए आपको भी चाहिए सबको चाहिए कौन पूरा करेगा ये संभव नहीं है समाधान देश का संग्रह सुविधा सबको मिल नहीं सकता और उसके पहले हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया भक्ति विरक्ति से कर भक्ति विरक्ति सबको मिल नहीं सकती क्योंकि भक्ति भक्ति विरक्ति रहस्य से शुरू होता है रहस्य में अंत होता है रहस्य को कोई रहस्य से पार पाना अभी तक किसी का रोग नहीं होता अभी तक किसी किसी एक व्यक्ति का वशी रूप नहीं जो जो मुक्ति पर जाए राष्ट्र से मुक्त हो जाए शिक्षा में प्रस्थापित हो जाए आचरण में आ जाए व्यवस्था में प्रभावित हो जाए और ये ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक हुआ वो भक्ति व्यक्ति के प्रति अभी आस्था के आधार पर हम अनुमान करते हैं तो अभी आस्थाएं धीरे धीरे शिथिल होता हुआ देखा ये जब जब भी शिक्षा का समीक्षा समिति बनती है उसमें प्रधान रूप में यह लिखा रहता है कि आस्था का हनन लिखा है है आप बहुत देख सकते हैं तो लोगों का मन में तो कुछ आया लगता है तो उसके उसका उपाय उसका उसका समाधान को पाना संभव नहीं उसके आधार पर क्या कर दिया न्याय स्वरूपता के लिए न्याय कैसा होता है बताया क्या नहीं न्याय न्याय बहुत हुआ सुन नहीं है समझदारी के बाद भ्रमित अवस्था में महान स्वरूप है समझदारी के बाद संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह और परमाणु उभय तृप्ति मिलने से न्याय होता है परस्परता में न्याय अन्याय की बात कभी भी आप चर्चा करें करेंगे न्याय का परस्परता नहीं करते न्याय का बात करते हैं तो परस्परता में अपेक्षा के रूप में करते हैं तो इसको अपन सर्वज्ञ है इसके आधार पर हम न्याय को यदि सुलभ रूप में सुलभ रूप में देखने को मिलता है वह है क्या है संबंधों का पैसा संबंधों का नाम सबको मिली थी हमारा हमारे सबको प्राप्त है सभी भाषा में संबंधों का नाम किंतु संबंधों का प्रयोजन का ज्ञान नहीं है संबंधों का प्रयोजन को निर्वाह करने का अधिकार बनाना है संबंधों का नाम अवश्य है माता पिता का नाम आदिकाल से ही होगा बहुत बहुत कुदूर दूर होगा सही होगा इतना तो कहा ही जा सकता तो कहते तो, माता पिता के साथ न्याय क्या होगा न्याय कैसा होगा क्यों होगा क्या प्रयोजन होगा इसके बारे में कोई जिक्र न शिक्षा में है न व्यवस्था में है न आचरण में मानव मानव परंपरा अभी जितने भी समुदाय परंपरा है किसी में नहीं इसके आधार पर इसके पर अनुसंधान करना पड़ा उसके विकल्पात्मक सेवक को तो पूरा करना पड़ा उसके उसको प्रैक्टिस कराने के लिए ये सब कार्यक्रम चला इसी क्रम में एक संविधान यह तो अपना सम्मेलन भी एक उपक्रम सम्मेलन भी एक उपक्रम है इस उपक्रम में हम सब परस्परता में अपने अपने जगह में सभी शुभ के लिए काम कर रहे हैं हम क्या किया आप क्या किए इसको ये परस्परता में समझते हैं उससे उत्साहित होते हैं आगे वैसे से ज्यादा करते हैं इसलिए से होते हुए यहां तक आए ये आपको कहना चाहिए तो इस तरह से क्या है शिक्षा शिक्षा संस्कार यदि सुलभ होता है न्याय सुलभता हो जाती है दो बात हमें व्यवस्था पर पहुंचते हैं तो उस स्थिति में हम सत्य को प्रमाणित करते हैं क्या सत्य सहअस्तित्व सत्य परम सत्य सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं व्यवस्था power power cut power cut